और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने कहा कि हम इस कुरान पर हर किस ईमान नहीं लाएंगे और ना ही उस पर जो इससे पहले है और काश आप देखें जब जालिमों को उनके रब के पास खड़ा किया गया होगा उनमें से एक दूसरे की बात को रद्द कर रहा होगा जो लोग कमज़ोर समझे गए वो उन लोगों से कहेंगे जो बड़े बने थे अगर तुम ना होते तो हम ज़रूर ईमान वाले होते